परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रणवध्वनि धन प्रेमी सजनों वेद मंत्र में परमात्मा का स्वरूप यथार्थ रूप में बताया जाता है क्योंकि परमात्मा ही उन वेद मंत्रों के उपदेष्टा हैं परमात्मा के स्वरूप को जानकर के परमात्मा से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए ये भी वेद मंत्र में कहा गया है मनुष्यों के लिए परमात्मा किस रूप में देखा जाना चाहिए देखा जाने योग्य है और किस प्रकार से प्रार्थना किया जाने योग्य है वो इस मंत्र में आज के मंत्र में भी बात रखी है ये मंत्र यजुर्वेद के पांचवें अध्याय का तैतीसवां मंत्र है पिछले दो दिनों में जिन मंत्रों को हम देख रहे थे उसी क्रम में ये है और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन पीछे के इकतीसवें और बत्तीसवें मंत्र में किया गया और इस तैतीसवें मंत्र में भी किया गया उसके बाद में फिर कुछ प्रार्थना की गई है ये मंत्र आर्यभिविनय के द्वितीय प्रकाश का अठारहवा मंत्र है परमात्मा को एक आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति बोल रहा है कि आप कैसे हो समुद्रो असी विश्व व्यचा हे परमात्मा आप समुद्र हो जो संसार में पृथ्वी पर हमें समुद्र दिखाई देता है वही परमात्मा है ऐसा यहां तात्पर्य नहीं परमात्मा समुद्र है कुछ गुणों के कारण से समुद्र है और वे ही कुछ गुण उसी तरह के कुछ गुण इस संसार वाले समुद्र में भी है इसलिए इसको समुद्र कहा जाता है जल के भंडार को तो परमात्मा समुद्र है कैसे समुद्र है उसके लिए महर्षि खोल रहे हैं हे द्रवणीय स्वरूप सब भूत मात्र आप में ही द्रव है द्रव का सामान्य भाषा में जो हम अर्थ लेते हैं तरल पदार्थ ठोस द्रव और गैस के रूप में तीन जो भाग करते हैं तो द्रव अर्थात जो तरल होता है यहां द्रव का मतलब है जो गतिशील है ध्रुव गत धातु से बनाए द्रवती गच्छति इति तो जिसमें सब भूत द्रव हैं गतिशील हैं परमात्मा द्रवणीय स्वरूप है वो हमें क्रियाशील रखता है वो स्वयं बड़ा सक्रिय है क्रियाशील है और हमें भी सक्रिय रखता है इसलिए परमात्मा को समुद्र कहा गया सम उत द्रवंती आपह यस्मिन अच्छी प्रकार से सारे जल जिसमें पहुंचते हैं उसको समुद्र कहते हैं पूरे संसार के नदी नाले समुद्र की तरफ जाते हैं सब जल उसी ओर जाता है इसलिए उसे समुद्र कहते हैं इसी प्रकार से परमात्मा की तरफ ही सभी जीव जाते हैं परमात्मा की तरफ ही गति करते हैं परमात्मा को पाने के लिए ही गतिशील है सबका लक्ष्य वही है इसलिए परमात्मा समुद्र है विशेष रूप से विद्वान लोग तो उसी तरफ गति करते हैं जो अविद्वान है वो भी अनजाने में इधर उधर भटकते हुए भी परमात्मा की ओर बढ़ने की ही यात्रा कर रहे हैं तो परमात्मा समुद्र है और जिससे जल निकलता है उसे भी समुद्र कहते हैं समुद्रवंती आपह यस्मात ये सारा जल पृथ्वी पे जितना है वो समुद्र से निकलता है इसलिए उसको समुद्र कहते हैं जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उसके पीछे परमात्मा आधार है वो परमात्मा के आश्रय से हो रही हैं इसलिए परमात्मा को भी समुद्र कहा गया है सम्मोदनते अस्मिन भूतानी इति समुद्र सम्यक प्रकार से मोदनते प्रसन्न होते हैं सुखी रहते हैं जिसमें सब जने उसे समुद्र कहते हैं ये जो पृथ्वी पर समुद्र है इसमें बहुत जीव है वहां एक अलग ही संसार है हमें इस धरती पे जो संसार दिखाई देता है जितने जीव जंतु उससे अधिक जीव जंतु वहां पर है उसका क्षेत्रफल भी बड़ा है क्षेत्र भी बड़ा है और जीव जंतु भी विविध तरह के और बहुत अधिक संख्या में वहां पर रहते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं अपना जीवन उस जल के अंदर बिताते हैं जैसे हम यहां वायु में बिताते हैं तो जिसमें सम्मोदनते अस्मिन भूतानी इति समुद्र हम सब जो प्रसन्न हैं अपने जीवन को अच्छी तरह चला रहे हैं वो किसमें उसी परमात्मा में चला रहे हैं चाहे वायु के जीव हों चाहे समुद्र के जीव हों वो सब वस्तुतः अंततः परमात्मा में ही प्रसन्न है अपना जीवन चला रहे हैं इसलिए परमात्मा का नाम समुद्र है समुद्र को भवती सम उन्नति ऐसे कई निर्वचन निरुक्त में इसके किए गए हैं तो परमात्मा को यहां पर द्रवणीय स्वरूप महर्षि ने लिया कि सब भूत मात्र आप में ही द्रव है जितने भी प्राणी हैं वो आप में ही द्रव हैं गतिशील हैं क्रियाशील हैं आपसे बाहर कोई भी नहीं है हम जितने भी हाथ पैर मारे दिन रात की दौड़ धूप कितनी भी करें कितने भी तेज जाते हो कितने भी तीव्र वायुयान और अंतरिक्ष यान बना करके हम रॉकेट बना के दूर जाते हो कहीं भी जाते हो हम परमात्मा में ही गतिशील हैं तो आर्य के मन में ये भावना रहती है कि मैं कहीं भी कुछ भी गति कर रहा हूं कितनी भी गति कर रहा हूं वो सब परमात्मा के अंदर कर रहा हूं और मैं ही नहीं समस्त प्राणी उसी में ही द्रव है आगे लिखा क्योंकि कार्य कारण में ही मिले हैं ये जो भूत मात्र है ये कार्य रूप में और कारण यानी परमात्मा ये जितने भूत मात्र शरीरधारी हैं ये कार्य है आत्मा नित्य है लेकिन ये जो शरीर बने हैं ये कार्य है ये भूत मात्र और इनका कारण कौन है इनका कारण है परमात्मा निमित्त कारण परमात्मा है या उपादान कारण नहीं लिया जाएगा तो उसी के अंदर ये सब विद्यमान है उसी से तो हम जीवन पा रहे हैं उसी से तो हमारा जीवन चल रहा है इसलिए हम उसी में ही गति करते हैं इससे बाहर न तो हम जाना चाहते हैं न जा सकते हैं जैसे मछली पानी से बाहर नहीं निकल सकती अंदर ही उसका जीवन चलता है ऐसे ही हमारा जीवन है आगे लिखा आप सबके कारण हो तथा सहज से सब जगत को विस्तृत किया है आप सबके कारण हो विश्व व्यचाह विश्व व्यचाह व्यच धातु व्याप्ति अर्थ में है विश्वस्मिन व्यच व्याप्तिर यस्य अस्ति स विश्व व्यच सब जगह वो व्याप्त है परमात्मा समुद्र क्यों है क्यों सब प्राणी उसी में गति करते हैं क्योंकि वो सर्वत्र व्यापक है सब जगह फैला हुआ है इसलिए उससे बाहर कोई जा ही नहीं सकता तो दोनों संबद्ध वाक्य है शब्द है समुद्रोसी विश्व व्यचार व्यच धातु का एक और अर्थ है व्याजी करने व्यच व्याजी करने व्याजी करने का मतलब होता है लौकिक भाषा में ठगना या फसाना जैसे बाजीगर होता है किसी बहाने से व्याज से दूसरे को ठग लेता है अपने किसी झांसे में ले आता है ऐसे तो व्यचक व्याजी करने ठगना या फसाना इसको परमात्मा के संदर्भ में देखेंगे तो निंदित नहीं देखेंगे इसको अच्छे अर्थों में देखेंगे परमात्मा ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि हमें जैसे इसी में फंसा रखा है इससे बाहर हम जा ही नहीं सकते उसके नियम नीति निर्धारण के बाहर हम नहीं जा सकते यदि हम थोड़ा उल्टा सीधा करते भी हैं तो फिर हमें वापस वहीं उसी तरह आना होता है उसी की दंड व्यवस्था में उसी के शासन में चलना ही होता है उसी की उपासना करनी होती है उसी के नियमों का अनुसरण करना होता है परमात्मा ने हमें इस प्रकार से बांध रखा है इस प्रकार से व्यवस्था कर रखी कि उसके बाहर हम जा ही नहीं सकते कुछ कर ही नहीं सकते इसलिए परमात्मा विश्व व्यचा है आगे कहा अजो असी एक पात आप अज हैं उत्पन्न नहीं होते जो उत्पन्न होता है वो ज और न जायते इति अजह परमात्मा को कह रहे हैं आप उत्पन्न नहीं होते हो आप सदा से विद्यमान हैं और एक पात ये सारा संसार आपके एक भाग में है एक छोटे से भाग में है इस संसार को कितना भी बड़ा हम देखते हैं जानते हैं वैज्ञानिक इसकी अनंतता इतनी विस्तार को देख के अचंभित है नए नए नित्य अनुसंधान हो रहे हैं और वो वहीं तक सीमित है बस लेकिन आर्य के मन में क्या रहेगा जितना भी बड़ा ये ब्रह्मांड है संसार है वो भी है प्रभु आपके एक ही भाग में है आप तो इतने विस्तृत हैं आपका विस्तार इससे कहीं अधिक है संसार के विस्तार को देख करके संसार की बृहत्ता को देख करके ब्रह्म स्वरूप को देख के विस्तार को देख करके इसी में नहीं खो गया है वो आर्य कितना भी पढ़ा कितना भी अच्छा संसार है लेकिन वो है तो परमात्मा के एक ही भाग में अर्थात संसार की तुलना में परमात्मा को आर्य सदा बड़ा ही देखता है कितना भी संसार बड़ा हो कितना भी कोई मनुष्य कित अच्छा हो विद्वान हो श्रेष्ठ हो परमात्मा के आगे कुछ नहीं है ये ब्रह्मांड भी कुछ नहीं है तो हे प्रभो आप अजो असी उत्पन्न नहीं हुए हैं और एक बात है ये सारा आपके एक भाग में है आगे कहा अहिरसी बुद्ध्य महर्षि ने अहि का अर्थ खोला है आपकी हीनता कभी नहीं होती अहीन जिसमें कोई हीनता नहीं होती कमी नहीं होती है वो सदा परिपूर्ण है पूर्ण है ऐसे आप हो और दूसरे ढंग से भी अही शब्द को देखते हैं अही वैसे सर्प के लिए कहा जाता है सर्प को अही कहते हैं और मेघ का नाम भी है बादल का नाम भी अही है निरुक्त में बहुत इसकी चर्चा आती है लेकिन वैसे हम यू देखेंगे तो ही धातु से ये गतौ और गति और वृद्धि अर्थ में ही धातु है ये मेघ गति करता है और बहुत बढ़ा हुआ विस्तार होता है विस्तृत होता है ऐसे ही परमात्मा भी है और अह व्याप्ति अर्थ में भी धातु है तो परमात्मा सब जगह व्याप्त है उस परमात्मा के लिए कहा गया आप बुद्ध आप बुद्ध भी हैं बुद्ध बुद्धनम अंतरिक्ष के नाम में पढ़ा गया है बुद्धनम का मतलब है अंतरिक्ष और बुद्ध का मतलब है बुद्ध में जो है बुद्ध में जो विद्यमान है आप समस्त अंतरिक्ष में व्याप्त हैं और बुद्धम अंतरिक्ष को क्यों कहा गया कि वहां पर भी बद्धा अस्मिन धृता इति जिसमें सब बंधे हुए हैं धृत हैं धारित हैं उसको बुद्धम कहते हैं बंध अर्थ में है यहां पर भी एक तरह से हम अंतरिक्ष में बंधे हुए हैं वो अंतरिक्ष इतना विस्तृत है कि हम उससे बाहर ही नहीं जा सकते कहीं और इसमें जो विद्यमान है ऐसा वो परमात्मा इस समस्त अंतरिक्ष में विद्यमान है इसलिए परमात्मा को बुद्धिम कहा महर्षि कहते हैं सब जगत के मूल कारण और अंतरिक्ष में भी सदा आप ही पूर्ण रहते हैं समस्त अंतरिक्ष में आप फैले हुए हैं एक बात महर्षि ने यहां और लिखी कि ये आप सब जगत के मूल कारण है सब जगत के मूल कारण है सब जगत के अंदर जड़ पदार्थ भी आ गए और चेतन भी आ गए उन सब का मूल कारण परमात्मा है और इसी शैली में आर्य समाज के नियमों में भी लिखा गया सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है आदि मूल परमेश्वर है तो इन सब वाक्यों से अनेक लोग भिन्न अर्थ ले लेते हैं कि महर्षि ये मानते थे कि ब्रह्म से ही परमात्मा से ही ये जड़ जगत बना है यानी वो उसका उपादान कारण है और आत्मा भी उसी से बनी है लेकिन महर्षि के वाक्य भी एकदम स्पष्ट है अन्य जगह एकदम स्पष्ट है उनका सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है इसलिए इन वाक्यों से वो अर्थ कभी नहीं लिया जा सकता तो प्रश्न उठता है कि परमात्मा आदि कारण कैसे है मूल कारण कैसे है जब भी हम आदि कारण की बात करते हैं मूल कारण की बात करते हैं तो हम उपादान कारण अर्थ लेने लग जाते हैं कारण माने अनेक प्रकार के उपादान कारण भी होता है निमित्त कारण भी होता है साधारण कारण भी होता है तो ये तो कारण शब्द से गृहित हो गया परमात्मा कारण है कौन सा कारण है ये एक अलग बात है इन कारणों में भी जो आदि कारण है सबसे प्रारंभ का कारण है इन कारणों में भी जो मूल कारण है मूल कहते हैं जड़ को बिल्कुल पहले वाला आदि और मूल एक ही बात है जो मूल कारण है वो कौन है ये संसार बना कार्य जगत जड़ जगत इसका उपादान कारण भले ही मूल प्रकृति हो सत्वर स्तम जड़ पदार्थ लेकिन इस सृष्टि की रचना का भाव विचार कहां पैदा हुआ मूल प्रकृति को इस रूप में बदलने वाला जो परमात्मा है वो वो उसकी इच्छा उसका ईक्षण उसका स्वभाव ये पहले सक्रिय होगा या तो मूल प्रकृति पहले सक्रिय होगी प्रारंभ कहां से होगा घड़े का मूल कारण यदि उपादान कारण हम मिट्टी को मानते हैं लेकिन घड़ा सबसे पहले कहां उत्पन्न होता है उसका प्रारंभिक कारण क्या है आदि कारण क्या है और मूल कारण क्या है मिट्टी है या कुम्हार के अंदर की इच्छा है एक चित्रकार चित्र बनाता है चित्र का मूल कारण आदि कारण क्या है तो कोई कहेगा कि ये कपड़ा कागज ये रंग ये इसके मूल कारण है उपादान कारण है ठीक है उस रूप में लेकिन ये चित्र बना कहा था पहले इसकी योजना कहां बनी थी क्या चित्र बन के बन के अभी रखा हुआ है यही इसका स्वरूप है इसकी कोई योजना बनी थी इसका कोई प्रारंभ था वो कहां पर हुआ था तो चित्रकार के मस्तिष्क में पहले हुआ था वो चेतन है जिसने मनुष्य चेतन है जिसने इसको कार्य रूप में बनाया कार्य रूप में वो लाया विचार किया योजना बनाई और फिर तदनुसार करके वो लाया तो प्रारंभ कहां से है कारण का प्रारंभ कहां से है उस चेतन के अंदर है इसलिए चित्र का आदि कारण या मूल कारण चित्रकार होता है इसी प्रकार इस ब्रह्मांड का इस जगत का मूल कारण आदि कारण परमात्मा है उपादान कारण के रूप में अर्थ नहीं लेंगे यहां पर तो इसलिए महर्षि ने यहां लिखा कि सब जगत के मूल कारण आप हो आगे कहा वाघ असी असी सदो असी आप वाक हैं वाणी स्वरूप हैं महर्षि ने उसका अर्थ खोला सब शास्त्र के उपदेशक अनंत विद्या स्वरूप होने से आप वाक हैं आप उपदेश भी करते हैं और अनंत विद्या से युक्त हैं फिर कहा ऐन्द्रम असी आप ऐन्द्र हो इंद्र और इंद्र का जो ये है उसे ऐन्द्र कहते हैं तो परमेश्वरी स्वरूप हो परमेश्वर का जो परम ऐश्वर्य का जो ये है वो परमेश्वरी है आप ऐसे हो सब विद्वानों में अत्यंत शोभायमान होने से आप इंद्र हो विद्वान इंद्र है ऐश्वर्य से युक्त हैं और उन इंद्रों का भी जो है उन इंद्रों का भी जो पूज्य है उन इंद्रों का भी विद्वानों का भी जो आदरणीय है वो परमात्मा है इसलिए वो ऐन्द्र है आगे कहा सदो असी आप सतह है स्थान है निवास के स्थान है ये सारा संसार आप में ठहर रहा है इससे आप सद हो पैसी ने भाव खोला आप सभा हो जैसे सभा में हम रहते हैं विद्यमान रहते हैं वो एक स्थान होता है ऐसे ही परमात्मा सदस्वरूप है सदन है निवास का स्थान है और वो ऐसी सभा है जहां पर ज्ञान की चर्चा चलती है जहां पर न्याय होता है जहां निर्णय होते हैं जहां श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग आते हैं और उसका एक नियंत्रक होता है आप एक सभा के रूप में हैं हम जैसे आपकी सभा में बैठे कि आपकी एक सभा चल रही है जैसे विद्वानों की सभा है राजा की सभा है ऐसी ये सभा चल रही है संसार उसमें हम विद्यमान हैं परमात्मा के इतने गुणों को बता करके अब प्रार्थना की जा रही है यह प्रभो ऋतस्य द्वारो मामा संताप्तम ऋत के द्वारो दो द्वार है ऋत यानी सत्य रित यानी आनंद ऋत यानी मोक्ष उसके दो द्वार हैं द्वार शब्द यहां पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त किया गया है लोक में नपुंसक लिंग है द्वितीय का द्विवचन ऋत से द्वारो मेरे जो ऋत के द्वार हैं उनको मामा संताप्तम उनको कष्टप्रद मत रखो ये रित के मुक्ति प्राप्ति के कौन से दो द्वार हैं तो महर्षि लिखते हैं सत्य विद्या और धर्म ये दोनों मोक्ष स्वरूप आपकी प्राप्ति के द्वार है रित का मतलब मोक्ष स्वरूप परमात्मा परमात्मा मोक्ष स्वरूप ही है परमात्मा को पाना यानी मोक्ष को पाना है मोक्ष को पाना यानी परमात्मा को पाना है परमात्मा मोक्ष स्वरूप है वही रित है और आपके दो द्वार हैं एक सत्य विद्या और दूसरा धर्म सत्य विद्या ज्ञान हो गया हमारे मन मस्तिष्क में शुद्ध ज्ञान रहे सत्य विद्या रहे संस्कार हमारे शुद्ध रहे ज्ञान हमारा शुद्ध रहे और धर्म का मतलब है कर्म जो हमारे पुण्य है वो हमारे पास रहे इन दो से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करेगा शुभ कर्मों से और शुद्ध ज्ञान से ये दोनों द्वार हैं उपासना भी एक तरह का कर्म ही है उपासना भी कर्म ही है वो धर्म के अंतर्गत आ जाएगा ये द्वार है लेकिन ये दो द्वार ऐसे नहीं है कि चाहे जिस द्वार से चला जाए ये दोनों द्वार है दोनों से होकर के गुजरना होता है जैसे प्राचीन किले होते थे चित्तौड़ का किला देखिए उसमें सात द्वार है मेरे को जैसा ध्यान आ रहा है एक दरवाजा पार करते हैं फिर दूसरा आता है फिर तीसरा आता है रास्ते के अंदर द्वार एक के बाद एक द्वार आते जाते हैं उन सब द्वारों में से जाना होता है दो अलग अलग द्वार नहीं है ये तो रित के ईश्वर की प्राप्ति के दो द्वार हैं ज्ञान और कर्म संस्कार वसनारूप रूप संस्कार और धर्माधर्म संस्कार इसमें संस्कार यानी शुभ संस्कार सत्य विद्या और धर्माधर्म संस्कारों में से कर्माशय में से धर्म यानी पुण्य निष्काम कर्म अच्छे कर्म ये दो आपकी प्राप्ति के द्वार हैं बाकी सब चीजें साधन है बाकी सब चीजें हमारी इन दो के लिए बने तो इनको संताप युक्त हम लोगों के लिए कभी मत रखो आर्य को ये कामना करनी है कि ये दोनों चीजें मुझे प्राप्त हो इन दोनों द्वारों से निकलूं और सुखपूर्वक निकलूं और परमात्मा को कहा कि आप इनको कष्टप्रद मत रखो इसका मतलब है कि परमात्मा इनको कष्टप्रद कभी नहीं रखता है परमात्मा ने इनको कष्ट रहित बनाया है हम अपने व्यवहार से ज्ञान से इसको कष्टयुक्त समझ लेते हैं कष्ट युक्त कर लेते हैं परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हम इसको कष्ट रहित ही माने विद्या की प्राप्ति आनंद युक्त तो होती है लेकिन किसी को कष्टप्रद भी लगती है उसका अपना कारण है पुण्य का कर्म कष्टप्रद नहीं है वो सुखप्रद है सुख सुखी सुखी बड़े आनंद से उसको किया जा सकता है लेकिन हम उसको कष्टप्रद समझ लेते हैं एक दृष्टि से यह अर्थ दूसरा कि हमारे जिन कर्मों के कारण से हमें विद्या प्राप्ति में और धर्म की प्राप्ति में कष्ट हो रहा है हमारे कर्म ऐसे रहे कि और हमारी स्थिति हमने ऐसी बना रखी है कि हमें कष्ट हो रहा है इसके अंदर परमात्मा ने हमें हमारे कर्म के अनुसार ऐसा शरीर बुद्धि आदि दिए हैं जिनसे हमें कष्ट हो रहा है अभी इनको प्राप्त करने में तो हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं हे परमात्मा मेरे जो पुण्य हैं उनका फल ऐसा दो मेरे को कि इन दोनों की प्राप्ति में मेरे को कष्ट ना हो आप ऐसा फल दीजिए मेरे को और कोई संसार की सुख सुविधा नहीं चाहिए मेरे को इन दोनों को संग्रहित करना है सत्य विद्या को पाना है और धर्म को पुण्य को संग्रहित करना है इसके लिए मेरे को कष्ट ना आए जो चीजें आवश्यक हो बस मेरे को वो मिलती रहे यही परमात्मा से कामना है इस रूप में परमात्मा इनको कष्ट से रहित करेगा तो हमारे लिए इनको कभी कष्ट युक्त संताप युक्त मत रखो किंतु सुख स्वरूप ही खुले रखो ये दोनों मार्ग मेरे खुले रहें मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए सदा उद्यत रहूं ये रास्ता मेरा हमेशा खुला रहे विद्या प्राप्ति का रास्ता मेरा कभी सब बंद ना हो ये कामना कर रहा है आर्य और धर्म करने का रास्ता मेरा कभी बंद ना हो धर्म में कर सकूं सदा मेरे लिए अवसर बने रहे ये कामना कर रहा है ये बहुत बड़ी और अच्छी कामना है ज्ञान प्राप्ति का मेरा रास्ता कभी बंद ना हो और धर्म करने का मेरा मार्ग कभी बंद ना हो ये दोनों चीजें मेरी सदा खुली रहें तो इन दोनों मार्गों को खुले रखो जिससे हम लोग सहज से आपको प्राप्त हो सके इसके निहित अर्थ ये भी है कि जो व्यक्ति अपने इन दो मार्गों को बंद कर लेता है या हमेशा खुला नहीं रखता है वो परमात्मा को सहज प्राप्त नहीं कर पाता है उसको कठिनाई होगी देर लगेगी समस्याएं होंगी और जिस व्यक्ति ने अपने इन दो मार्गों को खुला रख रखा है वो परमात्मा को सहज प्राप्त करेगा धर्म भी कर रहा है पुण्य भी कर रहा है और सत्य ज्ञान के लिए भी प्रयत्नशील है अपने को इसी तरफ जिसने लगा रखा है वो परमात्मा को सहज प्राप्त कर सकेगा ये मुक्ति प्राप्ति का परमात्मा की प्राप्ति का बड़ा सहज रास्ता वेद में जो कहा गया महर्षि ने इतने अच्छे ढंग से इसको खोला है और परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है अथ्वा नाम पते हे मार्गों के स्वामी अथवा नाम बहुत सारे मार्ग हैं उन सब मार्गों के आप पति हो स्वामी हो तो मार्ग आपके निर्देशन में ही चलते हैं परमात्मा की प्राप्ति का तो एक ही मार्ग है नान्य पंथा विद्यते अयनाय लेकिन यहां बहुवचन में कहा अध्वा नाम अध्वपते बहुत सारे अध्व हैं भिन्न भिन्न लक्ष्यों के लिए भिन्न भिन्न अध्व हैं मार्ग हैं इसलिए महर्षि ने देखिए क्या खोला इसको हे अध्वपते परमार्थ और व्यवहार मार्गों में मार्ग दो कर दिए महर्षि ने एक परमार्थ का मार्ग और एक व्यवहार का मार्ग मुक्ति का मार्ग परमार्थ का मार्ग वो तो एक ही है वेद में जो कहा है नान्य पंथा लेकिन व्यवहार के भी तो मार्ग हैं व्यवहार के भी तो बहुत लक्ष्य हैं उन मार्गों में भी हमें प्रार्थना जो आगे की जाएगी वो स्थितियां रहे अनुकूलता रहे तो परमात्मा अध्वान पति है बहुत सारे मार्गों का पति है मंत्र में कहा अध्वानाम अध्वपते तिर मां मेरे को तिर तारय पार कर दे प्रतारय प्रकर्ष रूप से तार कर दे तार दे ये जो मार्ग है मेरा बहुत अच्छी तरह से पार हो जाए प्र माँ तिरा जो मां है इस पे वैसे स्वरित का चिन्ह लगाए मां अनुदात तो होता है और स्वरित होता है जब अनुदात तो होता है तो वो अपने मां मने मेरे लिए होता है और स्वरित होता है तो निषेध अर्थ में होता है नहीं जैसे शांति पाठ में सा मा शांति रेधी अब यहां जो मां है वो अनुदात है सा मा शांति रेधी वो शांति मुझे प्राप्त हो और इसको स्वरित कर दें तो अर्थ बदल <laughs> अर्थ बदल जाएगा बिल्कुल वो शांति मुझे प्राप्त ना हो इंद्र वज्र वाली बात है और आर्य समाज में प्राय ऐसे बोलते हैं मां को स्वरित करके सा मां शांति थी <laughs> और <laughs> आर्य समाज की जो स्थिति बन गई है इंद्र वज्र <laughs> अच्छा यहां जो लिखा है मां उसको देखो सरित का है दो है इसके दोनों अर्थ किए हैं महर्षि ने ये जो मां है प्र उदात्त है उदात्त से परे अनुदात्त को स्वरित हो गया उदात्ता अनुदात्त से स्वरिता ये अर्थ है इसलिए एक अर्थ क्या है वेद भाष्य में महर्षि ने क्या अर्थ किया इसका सा मा नहीं प्र मा तिर हे परमात्मा मुझे प्र तिर अच्छी तरह तार दो और यहां क्या अर्थ है यदि इस मां को स्वरित मानेंगे तो तिर का मतलब किया क्लेश मत दो मार्गो में मुझको कहीं क्लेश मत दो मां तिर मेरे को क्लेश मत दो निषेध अर्थ में दोनों तरह से अर्थ हुए प्र तिर और आगे कहा स्वस्ति में अस्मिन पथि देवयाने भूयात मेरा अस्मिन पथि इस मार्ग में परमात्मा अधोपति है उसको कहा कि मेरा इस मार्ग में किस मार्ग में देवयाने इस देवयान मार्ग में देवता लोग जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग में स्वस्ति भूयात कल्याण हो जाए परमात्मा को मैं इन इन गुणों वाला देखूं जो इन मंत्रों में कहा गया ऐसा मानते हुए मेरी कामना है मेरे रित के ये जो दोनों द्वार हैं ये सदा खुले रहें और सरल रहें दोष रहित रहें कष्ट रहित रहें और मेरा ये जो देवयान मार्ग है इसमें कल्याण हो जाए ये रास्ता मेरा सफल हो जाए ये प्रार्थना आर्य ने की है आर्य देवयान मार्ग पर ही चलता है देवयान के लिए ही देवताओं के मार्ग पर ही मुक्ति प्राप्ति के मार्ग पर ही वो चलता है उसी के लिए वो सारी प्रार्थना करता है उसी के लिए परमात्मा का ध्यान करता है उसी के लिए परमात्मा को इन इन रूपों में स्वीकार करता है प्रणव